मनुष्य तो को ये संपत्ति हर्ष नहीं देती जैसे जैसे क्षुद्रता से सड़क चंदन हो कोई प्राणी भूखा हो और उसको ला करके चंदन लगाओ पेट में तो कलूरी मच रही है वो चंदन लगाओ चंदन का उनको कोई हर्ष देगा तो उनके सामने तो भोजन रखो तब प्रसन्नता हो हाँ, गर्भ गर्भगता परीक्षित जिस समय महाराजा परीक्षित गर्भ में थे तो ब्रह्म ब्रह्मास्त्र से जब उनका शरीर जला जा रहा था उस समय उन्होंने गर्भ में ही एक पुरुष को देखा कैसे थे अंगूठे की बराबर केवल उनका शरीर था बहुत छोटा एक छोटा सा मुकुट पहने हुए थे पीताम्बर धारण किए हुए सांवला सांवला चार उनकी भुजाएं थी जो है वो सर्वतो विषम परिभ्रांत गदया गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट करते हुए एक पुरुष को देखा परीक्षित और उनको देखते देखते ही ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट करके भगवान हनुमान करता है और उसके अनंतर परीक्षित का जन्म हुआ महाराजा अधिष्ठ को बड़ी प्रसन्नता हुई ब्राह्मणों को बुलाया सुवर्ण का दान दिया पृथ्वी का दान दिया हाथियों का घोड़ों का ब्राह्मणों को भोजन कराया ततस्तुष्टा ब्राह्मणा राजानंद बदति ब्राह्मण प्रसन्न होकर के राजा से बोले राजन देखो एश ना नाशे गति सती ये तुम्हारा वंश नष्ट हो रहा था भगवान ने कृपा करके श्री विष्णुना दत्ता भगवान विष्णु ने दिया है ना अतो लोके नामना विष्णुरात तो इसका नाम होगा विष्णुराज महाभागवत बड़ा भगवान का भक्त होगा युधिष्ठिर बोले रे ब्राह्मणों ये परीक्षित जो है ये हमारे वंश में जैसे यशस्वी धर्मात्मा राजा लोग हुए हैं उनका अनुकरण करने वाला होगा ना वैसा ही होगा ब्राह्मण बोले महाराज अब हम इसको सारे जीवन की इसको जन्म पत्री सुनाई देते हैं ब्राह्मण लोग तो उस समय बड़े सिद्ध लोग होते थे तो वहां पर तो वो वो जट कहने लगे आप ये क्या संक्षेप से कहते हैं लो हम सुनाए देते हैं आपको ये परीक्षित जो है ये धर्म ये इक्ष्वाकु के समान जो है प्रजा का पालन करने वाला होगा और शिवी के समान दाता होगा और भरत के समान यश का विस्तार करने वाला होगा अर्जुन कार्तवीर के समान ये धनुष भारी होगा और अग्नि के समान तेजस्वी होगा समुद्र के समान गंभीर होगा सिंह के समान पराक्रमी होगा हिमालय के समान सताम से होगा इसका क्या तात्पर्य जैसे हिमालय में जैसे संत निवास करते हैं संत लोग रहते हैं महात्मा लोग रहते हैं ऐसे इसके समीप में संत महात्मा रहेंगे और ये भूरिव क्षमावान पृथ्वी के समान सहन शक्ति वाला होगा पितरव एव सहन योग्य माता पिता जैसे बच्चे का अपराध सह देते हैं ऐसे ये अपराध को सहन करने वाला भी होगा और श्री रामदेव ब्रह्मायण सत्य वक्ता और भगवान राम के समान ब्राह्मणों का भक्त और सत्य बोलने वाला हो हम्म। सामने के ब्रह्म समानता में ब्रह्मा के हूं और सच्चाई में ब्राह्मणों का भक्त कैसे होगा जैसे राम राम जी के समान ब्राह्मणों का ब्राह्मण ब्राह्मणों का भक्त और सत्य ये कथा सुनाया करते थे कृष्ण जी कृष्ण कृष्णदास जी महाराज पुराण की कथा कि जब भगवान रावण को मार करके अयोध्या में आ गए राज सिंहासन पर बैठे राज्याभिषेक हो गया तो एक दिन वो अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे वशिष्ठ आदि ऋषि जो हैं वो श्राद्ध में निमंत्रित थे श्राद्ध कराने का आए थे वशिष्ठ आदि ऋषि लोग आए हुए थे भगवान ने लक्ष्मण को बाहर नियुक्त कर दिया था और और पहरेदार भी वहां रहते ही हैं तो हरेक व्यक्ति ना आने पावे तो कहते हैं उस दिन ही जान बूझ करके कि ये कैसा ब्राह्मण भक्त है तो भगवान शंकर स्वयं और ब्राह्मण का वेश बना करके केवल हाथ में एक लोटा सा डंडा और एक ऐसे भगवान शंकर जो है ब्राह्मण का वेश बना करके और झट आए और कहा कि हमको हम राम से मिलना चाहते हैं बोले महाराज हमारे यहां श्राद्ध हो रहा है इस समय तो भगवान श्राद्ध करा रहे हैं ऋषि लोग श्राद्ध ऋषियों के द्वारा तो इस समय तो नहीं मिल सकता अरे भाई हमको तो मिलना है उनसे तो मिलना है तो महाराज ब्राह्मणों के लिए हमारे यहां कोई रोक टोक तो है नहीं तो फिर आप जाइए आपको विषय मिलनी है तो यह भीतर दूसरे चले गए भगवान ने देखा ब्राह्मण देवता आए तो करके खड़े हो आसन दिया महाराज पर बोले कि राम हमको बड़ी भूख लगी है इस समय हम भूखे बहुत जल्दी हमें भोजन करा तो बोले महाराज आपकी आज्ञा ये है जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन श्राद्ध के बाद में किसी को भोजन दे सकते हैं ये आप ही लोगों ने हमको बता रखा है अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपको पहले भोजन देते हैं हमारा क्या जब उन्होंने ये बात कही बड़ी नम्रता से तो उन्होंने कहा अच्छा जल्दी कराओ फिर साथ करा दो करा लो ठीक है शास्त्र की बात है तो जब साध पूरा पिंड विदान सब हो गया तो फिर बोले कि अच्छा अब हमको जल्दी सबसे पहले हमको भोजन कराओ महाराज फिर कृपा ऐसी कृपा दया करो कि जो निमंत्रित ऋषि हैं उनको भी साथ बैठा लो और आप भी बैठ जाओ ये भी बैठ जाओ तो यही बात उन्होंने मान ली सब साथ बैठ गए जब पड़ोस ने आए तो हमारे सामने पड़ोस पहले तो उन्हें भाई अब तो ये बात इनकी मान लो तो वो पत्थर पे जो भगवान ने परोसा आगे बढ़े तब तक उठा के खा लिया लाभ अब जो भगवान परोसा से उठा के खा लिया भगवान बोले तो बड़ा विकट ब्राह्मण है उन्होंने फिर जो है ये तो आगे हमको बढ़ने ही नहीं देते उस समय भगवान ने अन्नपूर्णा का स्तवन किया राम जी अन्नपूर्णा प्रकट हुए और कहा भाई क्या हमारी क्यों इस समय तुमने याद किया कि देवी जी तुम इस ब्राह्मण देवता को तृप्त करो और मैं हम ऋषियों को जिमाए तो फिर अन्नपूर्णा देवी वहां ले करके और पर्स लेके खड़ी हुई ले ब्राह्मण ले अब मैं तेरे को खिलाती हूँ तो वो खीर का आपने देखा भी होगा वो खीर का पाप लेकर के अन्नपूर्णा तो भगवान वो ब्राह्मण तो सब शंकर का रूप ही थे शिव जी थे वो चार रूप धारण चतुर्भाव हो गए अन्नपूर्णा ने आठ होता आठ हो जाती होगी वो आठ अष्टभुजी हुए तो अन्नपूर्णा सोलह बजा धारण कर लिया और दूना रूप धारण कर लें और जो वो खाए अन्नपूर्णा वैसे ही उनको तृप्त कर आज ब्राह्मण तेरे को तृप्त करके सो और उधर जो है भगवान ने फिर ऋषियों को उनको बैठा करके उनको तृप्त कर दिया इसके अनंतर जो है फिर उन्होंने अपना उपसंहार करके फिर बोले राम तुमने किसको परस ने खड़ा कर दिया हम तब तो बहुत खा गया अब तुम उठ नहीं सकते <laughs> इसलिए हमको उठा करके कहीं लिटाओ तो हनुमान जी को भेजा तो हनुमान जी से टस से मस नहीं हुई हनुमान जी बोले महाराज मेरे बस की बात नहीं मैं नहीं लक्ष्मण जी को कहा तो इनको उठा करके तो जमीन में बिस्तर लगा दिया गया लक्ष्मण जी बोले महाराज हमारी बस की बात हम नहीं उठा सकते फिर स्वयं भगवान राम गए और उनको उठा करके बिस्तर पर वहां ला करके रखा सारा पेट खीर फीर में सब सन रहा था वो कपड़े से सारा उनका शरीर पहुंचा कुल्ला करने के लिए जल दिया सीता जी ने तो मुंह में जलने के सीता जी के ऊपर खुल्ला कर दिया तो सीता जी बोली महाराज मेरे को तो आपने पवित्र कर दिया मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा तो कोई किसी प्रकार से सब सह लिया उन्होंने जो फिर लेट गए भगवान चरण दबाने लगे फिर बोले राम हम तुम जानते हो हम कौन है महाराज ब्राह्मण हो आप हमारे पूज्य हो नहीं नहीं हम कैलाश शिवर हैं शंकर हैं हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे कि तुम कैसे ब्राह्मण के भक्त हो तो तुम फर्स्ट पास हुए बढ़िया नंबर से पास हुए अब बोलो तुम क्या चाहते हो क्या मांगते हो तुमसे तो महाराज क्या मांगे आपकी सब दया है पर हम जब न्यायालय में जाते हैं कचहरी में जाते हैं मुकदमे तो कोई होते नहीं है खाली बैठे रहते हैं आप हमको कथा सुनाते रहता है तो वहां पर भगवान शंकर ब्राह्मण के रूप में उनको पुराणों की कथा बोलिए श्री कृष्ण भगवान तो ये इसलिए कहा कि ये ब्राह्मण राम के समान ब्राह्मणों का भक्त होगा और सत्यवादी होगा सामने ब्रह्म समाह प्रसादे शिव समाह प्रसन्न होने में भगवान शंकर के समान नाम आश्रयदानी विष्णु समान रंगती देव के समान ये परीक्षित दाता होगा ययाति के समान धार्मिक होगा बलि के समान धैर्यवान होगा प्रहलाद के समान भक्त होगा ये सब गुण बताए परीक्षित है और ये तीन अश्वमेध यज्ञ करेगा और वृद्धों का सेवक होगा और इसके जो पुत्र होंगे वो भी ऋषि होंगे ऋषि राजर्षि राजर्षि नाम जनयता कुमार्गणाम शास्त्र कलेर निग्रहीता कल कलीदा निग्रह करेगा धर्म का रक्षक होगा ऐसा ये तुम्हारा पौत्र है ये सब सुनाया और ब्राह्मण की छाप से ये दुज पुत्र प्रेरित तक्षका मृत्यु सोचता ब्राह्मण के साप से प्रेत होकर के तक्षक के द्वारा इसकी मृत्यु होगी और जब ये सुन लेगा कि तक्षक के काटने से मेरी मृत्यु होगी तो सब राजपाट को छोड़ करके विरक्त होकर के गंगा के किनारे आ जाएगा और वहां भगवान सुखदेव जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके देहम त्यक्ता साक्षात हरे पदम या सकी और फिर पांच भौतिक शरीर को छोड़ करके सदा के लिए मुक्त हो जाएगा लोग ब्राह्मणों ने उस समय प्राजब से जन्म से लेकर के अंत तक सारा सुनाए इसलिए मालूम होता है ना कि ये सब बात पहले निश्चित हो जाती जीव का सारा आयु कर्म चरित्रं विद्या निधन में पंचईतान सृजन से गर्भस्थ अगर ये पहले बात निश्चित न होती तो ये ब्राह्मण कैसे बता देते और हाँ, इसमें एक फेर भी अगर होता तो उपाय कर लेते दुष्ट न तक्षक काटता तो अवश्यम भावी प्रतिकार हो यदि जो अवश्यम भावी चीज है उसका प्रतिकार भी नहीं रहता ब्राह्मण फिर अपने जब इन्होंने ये सब परीक्षित के विषय में जब ये सब सुनाया तो प्राप्त पूजा को महाराजा विष्णु ने उनका पूजन किया और ज्योतिर्विदो विप्रा स्वग्रहा ने वो सब ज्योतिषी लोग जो हैं दक्षिणा लेकर के अपने अपने घर चले गए अब परीक्षित महाराज जब बैठते थे तो जो गर्भ में जिसको देखा था वो देखते थे इनमें वो कौन सा है पुरुषम अनुध्यायन की नरम परीक्षे का सब भी परीक्षा करते थे कि ये तो वो नहीं है ये तो नहीं है इसीलिए उनका नाम परीक्षित हो गया और उनका लालन कानून होने लगा अवज्ञात द्रोहम दूरी अश्वेन यक्षमान करदंडाभ्याम बिना अलब्ध धनुराजा धर्मम चिंत अब इसके अनंतर युद्ध महाराज को यज्ञ करने की इच्छा हुई कि जो युद्ध में मारे गए हैं जो हमारे हाथ से तो ज्ञात द्रोहम दूरी कुर्बा क्षत्रियों के मारे जाने का जो पाप है कुछ उचित कुछ अनुचित सब तरह से ही मारे जाते हैं तो इसलिए उस पाप को दूर करने के लिए अश्वमेध हम यज्ञ करेंगे महाराज रजिस्टर ने पूछा कि भाई कुछ खजाने में है तो खजानची ने ये कहा कि कर दंडाभ्याम बिना अलग घना कि महाराज वो संपत्ति जो कर वसूल करके आया है और जो दंड से आया है वो तो धन है आपका निजी उसमें कुछ नहीं तो राजन के उसका हम हमारा उसमें क्या अधिकार है कर दंडाभ्याम बिना अलब्ध धनु राजा धर्मम चिंतया और युधिष्ठिर को चिंता हुई कि फिर यज्ञ कैसे हो तब उन्होंने फिर भीमसेन को भेजा कि भगवान को लाओ वही युक्ति बताएंगे कुछ हमारे पास क्या है तो भीमसेन से द्वारका में गए में भोजन कर रहे थे परिवार में बैठे हुए उन्होंने देख लिया यार अरे किवाड़ बंद कर वो किवाड़ बंद कर दिया गुरुसेन तो भूखा था और आके टटका हुआ महाराज भोजन के समय किवाड़ गृहस्थी को किवाड़ बंद करके भोजन नहीं करना चाहिए दिया गया है, मालूम कौन अतिथि मेरा अतिथि आया हूं भूखा हूं भगवान किवाड़ खोला भीमसेन आए बैठे अरे भाई कैसे आए तुम कि महाराज इस समय महाराजा यज्ञ करना चाहते हैं महाराजा युष्ठिर और आप वो आपको स्मरण किया है आपके बिना हो नहीं सकता इसलिए करना चाहते हैं कि जो जो हमसे पाप हुए हैं उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए हम आराष्ट्रीय करना चाहते हैं भगवान बोले तो तुम सब अपने पापों को हमको दे करो समाप्त करो समाप्त तो भीमसेन बोले कि क्या वो आप हमको हमेशा नरक में रखना चाहते हैं क्यों कि आपको जो वस्तु अर्पण की जाती है वो तो अनंत गुणी हो जाती है हम अपने पाप आपको अर्पण करेंगे तो गुरु बन जाएंगे तो अनंत गुणी हो जाएंगे तो फिर क्या करोगे कि पहले हम राजस्व यज्ञ करके अपने पापों को समाप्त कर देंगे नष्ट कर देंगे धर्मेण पापम अपनुति धर्म से पाप नष्ट हो जाते हैं सूर्य देव लेकर करके जब पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे जब धर्म ही धर्म रह जाएंगे पुण्य रह जाएंगे तब आपके चरणों में अर्पण कर देंगे भगवान ने पीठ ठोका बाबा इनसे हम तो समझते तू खाने वाला ही बहुत है पर तो तुम करने तो तो <clears throat> भीमसेन के साथ भगवान आए और महाराजा युष्ठ ने कहा महाराज मैं आराज यज्ञ करना चाहता हूं पर मेरे पास है कुछ नहीं तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं देखो उत्तर दिशा में महाराजा मरुत का यज्ञ हुआ था वहां जो ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई थी वो ब्राह्मण लोग ने यज्ञ पूर्ति के लिए दक्षिणा ले तो ली थी वो सब स्वर्ण की दक्षिणा थी वो पर वो दक्षिणा ब्राह्मण लोग वहीं छोड़ गए वो क्या करते वहीं छोड़ गए और जो उन स्वर्ण के पात्रों में भोजन कराया जाता वो पात्र भी वहीं छोड़ गए तो जो त्यक्त वस्तु है तो उस पर राजा का अधिकार होता है जिस पर किसी का अधिकार नहीं है अभिमान नहीं है जो त्यक्त वस्तु है उस पर राजा का अधिकार होता है आप उसके लाभ तो तथो धर्म सभिप्राय ज्ञातवा कृष्ण प्रेरिताभ्यातरा उत्तर दिशी नृत्य से राज्ञा यज्ञ त्यक्तम स्वर्ण पात्राधिकम धन आनीय दधु तो मरुत महाराज ने युद्ध किया था लोग उनसे भी कोई बड़े प्रतापी पहले राजा हुए और संवर्त मुनि इन्हें वो यज्ञ कराया उसकी भी थोड़ी बात सुना कि मर्त महाराज ने एक बार नारद जी से पूछा कि महाराज मैं यज्ञ कराना चाहता हूं लालसू यज्ञ आप बताइए आचार्य किसको बना तो उन्होंने कहा दे हम सबसे बढ़िया तुमको बहुत विरक्त महात्मा ज्ञानी और तुमको आचार्य बताते हैं तुम संवर्त मुनि के द्वारा ये करो बोलो संवर्त मुनि कहां मिलेंगे तो वो काशी में मिलेंगे उनको लाओ किसी तरह से तो उनका लाना तो बड़ी विरक्त है वो कैसे आएंगे तुम्हें तुम्हारी भक्ति रही तुम्हारी श्रद्धा रही उनको लाओ कैसे कैसे उनकी पहचान कैसे होगी कि देखो तो उसकी पहचान ये है के रोज भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं संवर्त में तो तुम उसे उन्हें पहचान नहीं सकते तुम ऐसा करना कि एक मुर्दा लेकर के मंदिर के बाहर खड़ा कर दो तो और लोग आएंगे तो देखेंगे ये मुर्दा क्यों खड़ा कर रखा है किसने क्या बात है वो, वो कुछ नहीं समझेंगे और भीतर लोग आएंगे जाएंगे जब संगत मुनि आएंगे तो उस मुर्दे को देख करके शव को देख करके ही क्योंकि काशी का जो शव है वो रूप होगा तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे उसी का दर्शन करके प्रणाम करके लौट जाएंगे तो समझ लेना कि यही संगत मुनि हाँ। <coughs> तो वो वो राजा ने वही किया वहां जाकर के बैठ गया और एक शव ला करके खड़ा कर दिया मंदिर के बाहर और लोग वहां में सब देखें और कह रही किसने खड़ा कर दिया है बात किया जाए भीतर लोग जाए आमे जब संबर्ष मुनि आए तो जट फिर जाऊं को देखा रोई तो साष्टांग दंडोत करके और प्रणाम करके और वहीं से लौट दिए राजा ने समझ लिया ये और राजा दौड़ा पीछे और चरणों में लिपट गया वो महाराज मैंने पहचान लिया आप संबर्ष मुनि हैं हाँ, अब नहीं छोड़ूंगा मैं मैं बहुत दिन से आपकी प्रतीक्षा में हूं फिर क्या भक्त के बस में हो गए तो उन संवर्त मुनि को ला करके उसने यज्ञ कराया और उसमें ब्राह्मणों ने दक्षिणा जो ली पूर्ण यज्ञ पूर्ति के लिए ली वहीं छोड़ गए जो सुवर्ण के पात्र आदि थे वहीं पड़े हुए थे भगवान की आज्ञा से वो सब धन वहां से लाए और फिर उसके द्वारा उनका यज्ञ हुआ राजसूय धन मानिए ददू तेन धने संपादित यज्ञ संभारा उस संपत्ति से फिर यज्ञ की सामग्री सब उपस्थित की युधिष्ठिरस्त्र भी अश्वमेध आया जब तीन अश्वमेध यज्ञ किए फिर महाराज युधिष्ठिर तथो हरि नृपम फिर ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करा करके भगवान अर्जुन आदिकों को यदि सा द्वारका रू अर्जुन को साथ में लेकर के भगवान से द्वारकापुरी में चले गए बोलिए श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद